बहन मैं कुरान हिफ्ज कर रही हूँ बहन आप कुरान करीम किस लिए हिफ्ज कर रही हैं बहन मैं अल्लाह के कलाम को और अल्लाह की मोहब्बत में हिफ्ज कर रही हूँ और अल्लाह को राज़ी करने के लिए हिफ्ज कर रही हूँ ताकि मरने के बाद जन्नत में जाने से पहले अल्लाह की तरफ से करामत का ताज पहनूं और इकराम का जोड़ा पहनूं और दाएं हाथ में बादशाहत लूँ और बाएं हाथ में जन्नत में हमेशा रहने का परवाना लूँ और अल्लाह के ख़ास लोगों में से हो जाऊँ और मेरी बहन मैं अपने माँ बाप को क़यामत के दिन दो ऐसे जोड़े पहनाऊँ जिनकी कीमत दुनिया वाले नहीं लगा सकते और मेरे माँ बाप को क़यामत के दिन नूर का ताज पहनाऊँ जो आफ्ताब से भी ज़्यादा रोशन होगा मेरी बहन कुरान हिफ्ज करने से आखरत का ही फ़ायदा होगा या दुनिया में भी कुछ फ़ायदा होगा नहीं बहन दुनिया में भी बहुत फ़ायदा होगा जो कुछ मांगना हो तो दुनिया वालों के सामने मांगने के बजाय कुरान से अल्लाह से मांग सकते हैं लेकिन मेरी बहन सहाबा रजी अल्लाह को कोई परेशानी या बीमारी या किसी जगह दर्द होता तो सहाबा रजी अल्लाह हकीमों और डॉक्टरों के पास जाने के बजाय कुरान करीम से इलाज कर लेते थे मेरी बहन मैं बहुत परेशान हूँ मेरे माँ बाप गरीब हैं कभी कभी हमारे ऊपर एक दो वक्त का खा भी हो जाता है बहन मैं आपसे पूछती हूँ क्योंकि आप कुरान हिफ्ज कर रही हैं हमारी हालत ठीक होने के लिए क्या करना चाहिए बहन हदीस का मफहम है कि जिस शख्स ने हर रात सुरह वाक़ पढ़ी उस पर कभी फ़ाका नहीं होगा मेरी बहन मुझे सर का दर्द रहता है क्या आपके पास कुरान के ज़रिए इसका भी कुछ इलाज है बहन अगर आपको सुरह फातिहा पढ़ना आता हो तो पढ़कर दम कर लीजिए हदीस का मफहूम है सूर्य फातहा में हर बीमारी की शिफा है मेरी बहन अभी दो दिन पहले मेरे भाई का इंतकाल हुआ है मुझे पूरा कुरान तो पढ़ना नहीं आता सिर्फ नमाज के पाँच छः सूर्य सीखी हूँ मैं उनको कुरान पढ़कर बख्शना चाहती हूँ कुरान पढ़ना ना आने की वजह से अफसोस करती हूँ क्या आपके पास कुरान के ज़रिए मेरे अफसोस का भी कुछ इलाज है मेरी बहन हदीस का मफहूम है कि अहद का सूरा एक बार पढ़ेंगे तो एक तिहाई कुरान का सवाब मिलता है अगर दो बार पढ़ेंगे तो तो तिहा दो तिहाई तीन बार पढ़ेंगे तो तीन तिहाई का सवाब मिलता है अगर आप तीन मरतबा अहद का सूरा पढ़कर बख्श देंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे भाई को ये कुरान बख्शने का सवाब दे देंगे लेकिन मेरी बहन आप पूरी कुरान सीखने की नीयत करो और कोशिश करो क्योंकि कुरान का इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर ज़रूरी है अच्छा बहन आपके कितने पारे हिफ्ज हो चुके हैं बहन मेरे उन्नीस पारे हिफ्ज हो चुके हैं बहन आप कितने साल से हिफ्ज कर रही हैं बहन मैं दो साल से हिफ्ज कर रही हूँ माशाल्लाह दो साल में उन्नीस पारे हिफ्ज और इतनी अहादीस हिफ्ज हो चुके हैं अल्लाह ताला आपको जजाय खैर अता फरमाए आपने मेरी हर मुश्किल हल कर दी आपका और मेरे रब का लाख लाख शुक्रिया दुआ करो बहन मैं आपके सामने नियत करती हूँ मैं भी आपके मदरसे में आकर कुरान करीम आपके ही जैसा हिफ्ज करूँगी और आपके बातों पर अमल भी करूँगी इन

लेकिन दुनियावी एतबार से जो भी तकलीफ और दर्द गम हर एक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पुरानी आयतों से शिफा रखी है यकीन वाले के लिए ये बहुत अच्छा तोशा है और इसमें से हम लोगों को जान जान कर अमल करना चाहिए और आखिरी दर्जा यही है कि कम से कम जितना नमाज में ज़रूरत वाला कुरान है उसको हम सही करने की कोशिश करें यह इन बच्चों की तरफ से पैगाम था अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तोफ़ी दे इसके बाद मैं दावत सुखन देता हूँ मुबशरा बिनते मोहम्मद शफ़ी को जो चाहरुम की तालिबा हैं और ये भी हमारे सामने कुछ बातें बताना चाह रही हैं और इनका उनवान है ताज्जुब किससे करना चाहिए दुनिया में कोई ना कोई चीज़ पर किसी ना किसी बात पर ताज्जुब होता है ध्यान से सुनो कि ताज्जुब किस पे करना चाहिए और ये किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं इससे पहले जो नात पढ़ी गई थी अब्दुलरहमान जो नात पढ़े थे उनको जो है दो साथियों ने इनाम दिया है एक तो उनके चचा मुकर्रम ने जो है उनको सौ रुपये इनाम दिया है और एक उनका भतीजा है क्या वसीम वो उन्होंने जो है बीस रुपये का इनाम दिया है लो भाई तुम्हारे चाचा भतीजों ने इनाम दिया है आपको ये जो लड़कियां माइक लेती हैं मुंह में तो हाथ में मुंह करीब रखकर बोलें हाथ में माइक लेकर मुंह के करीब रखकर बोलें तो आवाज़ अच्छी आई और इतना करीब पीने के होठ लगने लगे कि थोड़ा थोड़ा करीब से आप बोलना शुरू करें अस,